यकीनन जिसने आप पर कुरान को फ़र्ज किया है वो आपको एक अच्छे अंजाम तक ज़रूर वापस लाने वाला है आप कह दें कि मेरा रब ही ज़्यादा जानने वाला है कि कौन हिदायत लेकर आया है और कौन वाज गुमराही में है